कोई एक कोई आठ चक्कर है हमारे शरीर में वो बात सच नहीं ये नया प्रश्न है उसको आप लिख के दे देना आगे कभी होगा तो चर्चा करेंगे ये जो प्रश्न उठाया है आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो प्रश्न उठाया है मन उसी में सीमित है उसको आप जितना विस्तार करें उससे संबंधित जो पूछना हो अन्य विषय के करके धीरे धीरे आते रहेंगे मैं फिर अगला विषय लेता हूं ये विषय प्रार्थना से संबंधित प्रश्न है पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी चाहिए इससे ईश्वर का सहाय मिलता है तो मैं चिदन का अभिप्राय साक्षात वचन जो कल होगी अभिप्राय तो इस वचन के ऊपर तो इनका प्रश्न पूर्ण पुरुषार्थ के मध्य में प्रार्थना करेंगे तो क्या दोष है अभिप्राय इनका ये है कि पूर्ण पुरुषार्थ अभी नहीं हुआ है कुछ पुरुषार्थ कर लिया है तब प्रार्थना करेंगे तो क्या दोष है और प्रश्न है पुनः सहायता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए प्रार्थना से परमात्मा की सहायता मिलती है तो क्या मिलती है पहले वाला प्रश्न पूर्ण पुरुषार्थ के मध्य में रखा पहले ही प्रार्थना करने से क्या दोष है तो पहले तो हम ये समझे कि मैं ने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना की बात क्यों की प्रार्थना का जो स्वरूप समाज में प्रचलित हो गया था शांत निरपेक्ष प्रार्थना और जनमानस भी ये मानता है और आज भी मानते हैं औरों की छोड़िए आर्य समाज में भी बहुतों के या अधिकांश के मन में बात बैठी हुई है कि प्रार्थना से ईश्वर की सहायता देती है जो ये बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करनी चाहिए और तब सहायता मिलती है वो भी पूर्ण पुरुषार्थ के पहले प्रार्थना करते हैं और केवल करते ही नहीं वो ये मानते भी हैं भाव उनके मन में बना रहता है कि ईश्वर की सहायता मुझे प्राप्त होगी प्रार्थना से विनम्रता निरभिमानता इत्यादि जो बात महर्षि ने लिखे हैं वो बोलते हैं और थोड़ा बहुत उसका लाभ मिलेगा भी लेकिन प्रार्थना का उद्देश्य प्रयोजन प्राय हमारा बना रहता है सहायता की हम अपना अपना निरीक्षण भी कर सकते हैं औरों को भी देख सकते हैं कि प्रार्थना करते समय हमारे मन में इनमें से किस चीज की इच्छा प्रबल रहती है क्या हम प्रार्थना करके विनम्रता लाना चाहते हैं निरभिमान का अहंकार को दूर हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं ऐसे कितने हैं और अपना भी देते हैं कि क्या हम इसलिए प्रार्थना करते हैं और यदि ये रहते भी हैं और साथ में सहायता की प्राप्ति भी भाव रहता है सहायता को प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो सभी चीजें हैं तो इनमें मुख्यता किस चीज की है सहायता की प्राप्ति मुख्य बना रहता है और प्रार्थना भी पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही करते हो इतना कठोर हो कोई कि तब तक प्रार्थना ही न करें मुश्किल इतना सावधान रहता हो तो कोई कि प्रार्थना मैं करूंगा ही तब जब पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा <laughs> <laughs> तो आप आप देखो अपने को भी सोच लो और आपको कोई ऐसा रेप की बिना हो तो देखो बहुत मुश्किल इतना कठोर हो गई अंदर से बाहर से जो भी इस विषय में अपने प्रति इतना कठोर हो प्रार्थना ही नहीं करो जब तक पूर्ण दोष इस बिंदु पर सोचा तक नहीं होता है विचार तक नहीं होता है वैसी का पंक्ति तो ठीक है गंभीरता से इस पर सोचा तक नहीं होता भले ये पंक्ति बोलते रहे हो वर्षों तक पढ़ते रहे हो वर्षों तक लेकिन इसको करना आचरण में लाने के लिए अंदर से प्रयत्नशील रहना उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास कोई कोई करता हूं तो बहुत दुर्लभ है स्थिति पर ध्यान देना से सहायता की प्राप्ति हमारा लक्ष्य लेकिन सहायता चाहते हैं इसलिए प्रार्थना करते तो महर्षि ने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद सहायता प्राप्ति पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना करने का क्यों लिखा क्योंकि वो ये देखते थे उस समय कि लोग ऐसे ही प्रार्थना करते थे पड़ेगी पाप का मुद्दा मिलता है मिलता है कहते लेकिन वो वास्तविक प्रार्थना नहीं और ये महर्षि दयानंद की एक विशिष्ट नहीं है पूर्ण पुरुषार्थ आपको किसी उपनिषद में किसी दर्शन में किसी वेद मंत्र में साक्षात इस तरह का संकेत देखने में आया है मेरे दुनिया हो सकता है कहीं होगा महर्षि को भी ये ईश्वर से प्रेरणा मिली है उस परिस्थिति में उन्हें ये कहना हुआ उनको ये अभिव्यक्त करने की अनिवार्यता होगी पूर्व काल में ऋषियों को अभिव्यक्त नहीं करना पड़ा हो तो पुरुषार्थ करके ही प्रार्थना करते हो कहने जोर देने की जरूरत कम पड़ी लेकिन महर्षि जिस समय आए और जिस ढंग का धर्म तथा कथित धर्म का वातावरण था उसमें प्रार्थना खूब की जाती हम भी किसी को भी बोलते थे गायत्री मंत्र बोलिए ईश्वर से बुद्धि की प्रार्थना कीजिए तो उसमें कहा ये बात रहती है कि आप पहले कोट पुरुषार्थ करें और फिर प्रार्थना करने के बाद तो छोड़ दीजिए वाणी में भी ये पूरा पूरा होता से नहीं होता तो प्रार्थना करने वाले सहायता के साथ में प्रार्थना को जोड़ते हैं प्रधानता से और जब सहायता को कर से जोड़ लेते हैं प्रार्थना के साथ तो प्रार्थना करते करते जब वो सहायता मिलती हुई नहीं दिखती तो प्रार्थना से भी उनकी रुचि कम होती वैदिक प्रार्थना होगी तो उस तरह की सहायता मानती है दूसरों में फलीभूत होती है वो फलीभूत मानते हैं मंदिर में गए वहां गए गुरुद्वारे में गए प्रार्थना की संतान हो गई नौकरी लग गई तो वो मान लेते हैं कि सहायता प्राप्त हो गई से लेकिन वैदिक ही ऐसी सहायता तो नहीं मानते हमने प्रार्थना की और हमारी नौकरी लग गई हमने प्रार्थना की और मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गया ये परमात्मा के सहायता से हुआ मेरी प्रार्थना के बाद परमात्मा ने सहायता की और उससे युद्ध हुआ ये गति धर्मी का मन प्राय स्वीकार नहीं करेगा जो सिद्धांतों में चल परमात्मा की तरह से सहायता करता ही है और वहां को मान लेते हैं ये सहायता परमात्मा की तरफ से आई है और वो अपनी प्रार्थना को सफल मानते हैं वहां पर इसलिए वे दूरी जगहों पर जाते ऐसा समझ लेते हैं तो इनका जो दूसरा प्रश्न है इसके साथ जुड़ा हुआ प्रार्थना से जो सहायता मिलती है उसका स्वरूप क्या है और ये प्रश्न छोटा प्रश्न नहीं है जब से अध्यात्म में आता है कोई व्यक्ति इधर इस तरफ भी आता है महर्षि के वचनों को सुनता है तब से ही विचार चल रहा है सहायता होती है तो कैसे होती है क्या होती है और जो जिन्होंने जान लिया दर्शन पढ़ लिए और भी शास्त्र पढ़ लिए उसके बाद भी दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस चालीस पचास वर्ष बाद भी इस प्रश्न को पूछो तो दिक्कत नहीं ठीक ठीक निर्णय करना है कि परमात्मा की सहायता क्या होती है क्या परमात्मा प्रार्थना के बाद सहायता करता है ये भी बड़ा प्रश्न है और सहायता करता है तो क्या करता है इसका स्वरूप क्या है इसकी अस्पष्टता आपको मिलेगी आप भी सोच लीजिए कि आपके मन में क्या इसकी स्पष्टता आ गई है किसी को पांच साल दस साल बीस साल चालीस साल पचास साल हो गए हैं और जो विचार हमने बनाया है वो ठीक होना चाहिए सब प्रमाण होना चाहिए ऐसे ही मान लेने से रह करके हम अपनी प्रार्थना के साथ में सहायता को कैसे जोड़ लेते हैं प्रार्थना की और कुछ दिनों बाद में वो कार्य सफल हो गए तो भक्ति भाव में बहुत शीघ्रता से बोलते हैं कि परमात्मा ने देखो प्रार्थना सुन ली वैदिक धर्म आर्य समाज भी बोलता हुआ मिलेगा ऐसे परमात्मा ने सहायता की परमात्मा की कृपा से ये कार्य सफल हो गए एक होता है परमात्मा की परोक्ष सहायता वो तो विद्यमान रहती ही है और किसी भी कार्य में परमात्मा का सबसे अधिक सहयोग रहता है उसका निषेध नहीं है वो तो है और किसी कार्य की सफलता में सबसे अधिक सहयोग उसका मानना चाहिए ठीक है लेकिन उसके सारे सहयोग परोक्ष सहयोग होते हैं किसी भी कार्य को हम संपादित करते हैं तो वो व्यक्ति ही तो संपादित करता है जो कुछ भी करता है जो भी व्यवस्था होती है कुछ भी कार्य होता है मकान बनता है शिविर होता है कार्यक्रम होता है पुस्तक लिखी जाती है कुछ भी कार्य होता है उसमें जो सीधे सीधे कार्य होता है वो मनुष्यों के द्वारा या उनसे संबंधित साधनों के द्वारा पुरुषार्थ से सीधा सीधा संबंध जुड़ता है पुरुषार्थ को हटा करके हम ये देख सकें कि देखो ये चीज हुई है जो हमारे पुरुषार्थ से नहीं हो रही थी और हमने ऐसा देखना समझना बहुत कठिन होता है पर ऐसा देखते भी जो कार्य हमने स्वयं किया उसको तो ईश्वर के द्वारा किया हुआ कह नहीं सकते कहते भी नहीं लेकिन हमारे करते करते अचानक कहीं से संयोग आ जाए हमने नहीं किया तो कहते देखो परमात्मा की अचानक सहायता वो अचानक सहयोग कैसे आता है प्राय करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमने एक कार्य शुरू किया अच्छा कार्य और पर कोई सहयोग भी अच्छा लग सके किसी ने धन से कर दिया किसी ने तन से कर दिया हमें आवश्यकता की एक सहयोगी और होना चाहिए तो एक तत्काल क्या कहते हैं क्या विचारते हैं अच्छा काम था परमात्मा ने सहायता की और हमारी कामना तो चली गई थी प्रार्थना तो चली गई थी कि धन चाहिए व्यक्ति चाहिए ज्ञान चाहिए परमात्मा ने सहायता की अधिकांश तरह हम ये सोचते हैं अपने द्वारा जो न किया गया हो दूसरे के द्वारा किया गया हो उसको हम तत्काल कहते हैं कि परमात्मा की सहायता प्राप्त करना अच्छा, हम हमने स्वयं ने जो किया उसको हम क्यों नहीं कह देते कि ये परमात्मा की सहायता से अपने वाला जो किया है मैंने पुस्तक को खोला और मैं कहूं परमात्मा की सहायता से पुस्तक को लिखी चौबीस चौबीस कारण क्या निकल सकता हूँ परमात्मा की बड़ी कृपा है पुस्तक को तो ले अपने से कोई कहता हुआ नहीं है बताओ क्यों हाँ, अपना पोशाक दिखता हमें अपना पोशाक दिखता है तो ठीक है अब जब दूसरा हमारे को जब सहायता ला करके दे देता है आ जाता है वहां क्या सोचते हैं मेरा पुरुषार्थ तो इसमें नहीं तो किसका पुरुषार्थ है अगले अगले क्या तो नहीं सोचते बात तो यही है मैं इसी बिंदु पर तो आना चाहता हूं हम क्या कहते हैं परमात्मा की सहायता क्यों जब हम इस कार्य में परमात्मा की सहायता नहीं स्वीकार करते कम से कम वैदिक करनी या पौराणिक से पौराणिक ये मैंने ऐसा उदाहरण दिया कि तो कोई भी नहीं कहेगा कि परमात्मा की सहायता से ऐसा होगा लेकिन दूसरे से हो तो जाए तो वहां ये नियम क्यों नहीं लागू करते वहां हम क्यों कह देते कि परमात्मा की सहायता से इतना तो ठीक है कि मेरी सहायता से नहीं हुआ मैंने नहीं किया है लेकिन जैसे मैं पुरुष हूं स्वतंत्र करता हूं वैसे वो भी तो है मां हाँ, ये कहीं सोच रही है कुछ कहती है किसी अच्छे कार्य को होते हुए देखा और सहयोग कर दिया मैं कर रहा हूं तो परमात्मा की सहायता नहीं है ये हमारे मन स्वीकार कर युक्ति स्वीकार कर लेकिन दूसरे ने जब हमारे को सहायता की तो बड़ी शीघ्रता से हम परमात्मा की सहायता उसको हमेशा तो अधिकांश ऐसे ही करते आप विवाद देखिए लोगों को देखते रहिए ऐसा ही करते अधिकांश ऐसा ही करते वहां कोई सिद्धांत में देख करके नहीं ये कथन तो सिद्धांत विरोध है ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन भक्ति भाव ऐसा रहता है इसको अच्छा समझा जाता है ऐसा वचन परमात्मा की सहायता हो गई फिर होता नहीं मिल गया ये कार्य कर रहे थे और फिर उसे भी अचानक आगे परमात्मा में दिखाया इसको आध्यात्मिकता माना जाता है इसको अच्छा माना जाता है तो प्रश्न ये विचारने के लिए है कि अपने काम के लिए हम ईश्वर की सहायता नहीं स्वीकार करते अपने लिए तो दूसरे मनुष्य के किए हुए को ईश्वर की सहायता कैसे करते तो कुछ लोग सूत्र में प्रस्तुत करते हैं कि परमात्मा ने उसको प्रेरित किया सिद्धांत की बात आएगी परमात्मा प्रेरित तो करता ही है प्रेरित करता है लेकिन क्या परमात्मा ऐसे प्रेरित करेगा उसको कहेगा कि देखो वो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है वेदांत पूर्व जाओ और उससे सहयोग कर सकता है परमात्मा को तो सर्वशक्तिमान है क्या नहीं कर सकता परमात्मा को परोपकार नहीं करवा सकता करवा सकता है हम कहेंगे सर्वशक्तिमान है लेकिन ऐसा करने पर कर्म की स्वतंत्रता का सिद्धांत खंडित हो कर्म की स्वतंत्रता को मानना इतना अनिवार्य है यदि उसको छोड़ दिया उसको ढीला कर दिया तो संपूर्ण कर्म फल व्यवस्था समाप्त हो जाएगी बिल्कुल ढीली हो जाएगी कोई आधार नहीं पास पाप और पुण्य कर्म फल व्यवस्था कर्म की स्वतंत्रता पर निर्भर और ये व्यवस्था ईश्वर ने की तो जो कुछ ज्यादा सोचते हैं वो देखते हैं कि अन्यों से भी सहयोग आया वो भी परमात्मा का नहीं नहीं सकता वो भी कर्म की स्वतंत्रता है उसमें हम्म। तो आखिर परमात्मा प्रार्थना के बाद सहयोग करता कैसे सहायता देता कैसे हमें कैसे पता लगे कि उसने सहायता दी है और देता है या नहीं देता है क्या स्वरूप है उसका फिर वही खोजेंगे निर्णय नहीं होगा घूमते रहे घूमते रहे पहला प्रश्न बहुत बड़ा ये रहता है कि प्रार्थना के बाद ईश्वर से सहायता मिलती है या नहीं और मिलती है तो कैसे दूसरा प्रश्न सहायता मिलती है ये मानते हैं कहते हैं कि वो पुरुषार्थ हमने जितना किया उतना ही मिलता है उससे कुछ अतिरिक्त भी मिलता है पहले प्रश्न में ये प्रश्न चलते हैं या कभी भी परमात्मा को न्याय करेगी जितना किया है उतना ही तो देगा और यदि जितना किया है उतना ही देगा ऐसा हम जब मानते हैं तो फिर प्रार्थना से जो सहायता मिली वो कायदे करते और यदि अतिरिक्त मिली ऐसा मानते हैं तो न्याय का निधन होगा फिर असमंजस क्या करें फिर उसमें एक उत्तर क्यों सोचता है उसमें ना कुछ तो उत्तर सुनेंगे कि प्रार्थना ठीक एक कर्म है उसका कारण पुरुषार्थ किया वो एक कर्म हुआ उसका फल मतलब मिला और ये जो प्रार्थना की ये भी एक कर्म था उसका भी फल मिला लेकिन ये उस तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकता प्रार्थना जैसे भी एक कर्म है लेकिन ये वैसा कर्म नहीं है जैसा कर्म करके हमें फल पर कई जन इससे संतोष कर लेते हैं कोई तो प्रार्थना अतिरिक्त कर्म हुआ तो अतिरिक्त फल मिलेगा फिर तो वो क्या करते हैं अधिक अधिक अधिक बिना पुरुषार्थ नहीं नहीं पुरुषार्थ जितना है उतना किया मान लो प्रार्थना तो उस स्तर पे बात करो जिसमें पुरुषार्थ ही किया अब प्रार्थना से अतिरिक्त फल चाहिए उसको तो प्रार्थना भी एक कर्म हुआ उसका अतिरिक्त फल है ये करके भी कहीं हमें संतोष कर देते हैं क्योंकि और कोई उत्तर ही नहीं सोचना है प्रार्थना का फल कैसे और क्या है सुस्ता नहीं है तो बस वो प्रार्थना का फल मान के हाँ चलो कर्म का हुआ और कर्म का फल मिला तो न तो ईश्वर की न्यायकारिता करने हुई और जिसने प्रार्थना की नहीं की उसकी अपेक्षा अधिक भी फल मिल गया प्रार्थना भी सार्थक हो गई और ईश्वर की न्यायाधिकारिता भी खंडित नहीं हुई ये मान करके भी कई जने संतुष्ट हो गए क्या ये माना जाए कि ये जो तो प्रार्थना की गई ये अतिरिक्त कर्म हुआ और उसका अतिरिक्त फल मिला तो जब ये सोचता है दूसरे प्रश्न उठाते हैं फिर जब ये कोई कह देता है कि नहीं ईश्वर तो न्यायकारी है देगा तो उतना ही जितना वो जितना हमने किया तो दूसरा नास्तिक देखता कहेगा फिर प्रार्थना का मतलब क्या है प्रार्थना से क्या सहायता तो कई बार वो सहायता को क्षीण कर देता है नहीं सहायता नहीं अभिमानता तो आएगी उससे तो मना नहीं कर सकता अभिमानता तो आएगी अहंकार की न्यूनता तो होगी इससे कोई इनकार नहीं करेगा वो फल के मिलने को क्षीण कर देगा लेकिन फिर भी प्रार्थना करते समय फल को ही भूल जाएगा तो कामना होगी प्रार्थना के समय फल की ही प्रधानता पे बनी रहेगी उसके अपने आचरण तो ये प्रार्थना का और उसका सहायता का प्राप्त होना एक जटिल प्रश्न है और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न और उलझन रहती है महर्षि के वचनों को हम पहले इसको और चर्चा करेंगे मैंने अभी प्रश्न प्रश्न करके आपको करेंगे है आपको लेकिन बहुत सारे बिंदु विचार के लिए पक्षी पक्ष विपक्ष और भी पक्ष विपक्ष हैं लेकिन एक विषय आपके सामने रखा है इस पर आप लोग भी विचार करें और इस पर भी और चर्चा करें सीधे सीधे उत्तर नहीं इसके लिए और चर्चा करेंगे उसके लिए मैं जी के कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं वो क्या है वही कहीं उत्तर हमें मिलेगा मैसी के वचन पे ही हम कह देते हैं इन्होंने प्रश्न मैसी के वचन पे ही उठाया मैसी इसमें क्या है यथावत वाक्य क्या है यथावत वो वाक्य क्या है मैं क्या कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ पुस्तक देखो मोटी मोटी पुस्तक और ये हमें जानना आवश्यक है मैं जी का वचन क्या है इससे हमें और उस विषय में सोचने का अवसर मिलेगा आप लोग भी बात रखेंगे और इसको न्याय दर्शन चल रहा है तो करेंगे उसमें का नहीं ऐसा होना चाहिए विचारेंगे ऐसा हो सकता है या नहीं ठीक है या नहीं सिद्धांत के अनुरूप है या नहीं इस विषय को लंबा करेंगे धीरे धीरे करेंगे एकदम से करने से मैं एकदम उत्तर बता और वो तो आधा स्वीकार होगा नहीं होगा वैसे कह थे उसी उलझन में ही उलझ करके वो भी रह लेकिन जब इस पर पूरी चर्चा करेंगे और इस उत्तर में ये दोष है इस उत्तर में ये दोष है इस उत्तर में ये दोष है ये उत्तर है ये ठीक है इसके अलावा कोई उपाय नहीं जब हम सब जगह घूम लेंगे तो धीरे धीरे हम ठीक जगह पे पहुंचेंगे ये मान सकते हैं शत प्रतिशत निर्णय नहीं कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा होता है इससे अधिक अच्छे उत्तर की संभावना हमें नहीं मिल लग रही है चूंकि सीधे सीधे उत्तर नहीं मिल रहे सीधे सीधे उत्तर दे जाते तो, तो बात ही नहीं रहती उस पूरी प्रक्रिया थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे अभी आपको अवसर करते हैं ये मैं पढ़ रहा हूँ पांचवें देश तुम्हारा पच्चीस ऐसे देखते हैं प्रार्थना अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत यही बात है पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए भी बहुत देखा ये विशेषण एक जो लगाए हैं गलत गलत कामों के लिए भी प्रार्थना करते हैं आज भी करते हैं वो प्रार्थना ही नहीं छेड़ने नहीं आता है और न उसकी सफलता होती है उत्तम कर्मों के लिए उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले पुरुष के सहाय देने को प्रार्थना है अन्यों का भी ग्रहण है लेकिन हम ईश्वर से संबंधित ही बात रखें उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर के सहाय देने को प्रार्थना है परमेश्वर के सहाय लेने तो हम ले रहे हैं तो कोई दे रहा होगा तभी तो ले रहे हैं तो ये परमात्मा दे रहा है और हम ले रहे हैं है कि वो दे तो नहीं रहा है और हमने दिए वो तो है जैसा है जैसे कि नदी में पानी बह रहा हो और हमने पानी ले लिया और कहें कि किसी ने दिया तभी तो लिया आया कभी तो लिया तो कोई नदी में पानी तो बह ही बहेगा नदी ने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया हमें जल देने के लिए तो बह ही नहीं वैसे हम लेते हैं नहीं लेते तो बह रही है विद्यमान है और उसमें हमने दे दिया परमात्मा की सहायता पहले से विद्यमान है और हमने वो सहायता ले दी एक इस संदर्भ में इस अर्थ में इस वाक्य को एक है हमने प्रार्थना की परमात्मा ने सहायता की और हमने दी अर्थात परमात्मा ने कुछ अतिरिक्त सहायता की जैसे घर में या में जाकर के हमने पानी मांगा प्रार्थना करके पानी ले लिया अब ये जो पानी लेना है घर में किसी ने दिया प्याऊ में किसी ने दिया तब हमने लिया तो मनुष्यों के सहारे लेने को प्रार्थना एक तो दूसरा सत्या प्रकाश के मंत्र में स्वमंत्र में प्रकाश है प्रार्थना अपने सामर्थ्य के उपरांत या पूर्ण शब्द नहीं पूर्ण पुरुषार्थ शब्द क्या है अपने सामर्थ्य सामर्थ्य के उपरांत अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से ईश्वर का संबंध जुड़ रहे हैं केवल एक तरफा प्रार्थना हो और मैं मेरे क्या मैं भी सोच लिया हैं ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं सहायता का स्वरूप भी यहां पर बताया जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं आदि से क्या क्या लिया जाए ये फिर विचार नहीं वो विज्ञान या विज्ञान जैसी ही चीजें दी जाए या कुछ और भी दी जाए वस्तुएं जैसा कि हम समझ रहे हैं सहायता का स्वरूप संकेत यहां पर राशि का मिल रहा है ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिए ईश्वर से याचना करना और इसका फल निरभिमानता आदि होता है चाहे तो हम ये भी लगा सकते हैं क्योंकि पहले कहा विज्ञान आदि प्राप्त तो होते हैं और इसका फल निरभिमानता आदि होता है प्रार्थना की सहायता मिली हम कार्य कर पाए और अब निरभिमानता देखो मैं अपने सामर्थ्य से इस कार्य को नहीं कर सका था प्रार्थना करने से परमात्मा ने सहायता की का तो तब आएगी नहीं तो प्रार्थना भी अभिमान को दे देगी इनकी प्रार्थना सफल ही नहीं होती मैं प्रार्थना करता हूँ माना तो। सकता मैंने प्रार्थना की तो सहायता मिली तो की तो प्रार्थना है किया किसने मैंने प्रार्थना की जैसे प्रार्थना मैंने बहुत बड़ा काम किया उससे सहायता मिली उसमें भी कर्तृत्व तो अपना प्रधानता अपनी यदि मान ली जाए तो ये प्रार्थना और उसके बाद फल की प्राप्ति अहंकार भी दे सकती है अभिमानता नहीं के तो अहंकार दे सकती है तो मैं जी के दो वचन हमने इसका और विचार करें अभी आप में से माता जी कुछ बोलना चाहते हैं ही मत बोलिए प्रार्थना भी रहती है उसमें प्रार्थना भी रहती है उसमें माता जी के प्रश्न में एक छुपा हुआ आक्षेप है <laughs> एकाक्षर है पीछे छुपा हुआ है बस बोलिए आगे बोलिए हम करते हैं मैंने उत्तर दे दिया हम करते हैं अब आगे बोलिए आप माता जी का भी है मैं बोल देता जो मैं समझा उल्टा भी हो सकता है अभी जो कहा गया कि प्रार्थना वो पुरुषार्थ के बारे में वो बिना पुरुषार्थ यानी हम जैसे संज्ञा करते होता तो कि हम वैसा तो कुछ याद नहीं करते ये जो कहा जा प्रार्थना तो करते हैं संध्या में वो तो प्रार्थना बिना कुछ शर्त के होती है संध्या में तो संध्या भी ऐसी होती है और संध्या तो वैदिक है मैसी दैनिक के द्वारा भी होती इसका मतलब प्रार्थना बिना पुरुषार्थ के भी होती है अच्छी संभव है नहीं सोच सकते हम करते हैं ना समाज में ही करते हैं ठीक है इस पर और चर्चा चलेगी ये बिल्कुल भी आएगा आप कुछ बोल रहे उस विषय में थोड़ी सी चर्चा रखी मैंने एक पक्ष मानते हैं परमात्मा सीधे सीधे तो आकर के रोटी अनादि नहीं देना मैं जैसा आकलन है मेरा सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ उसमें से हमारे में से अधिकांश ऐसा मन है कि किसी आदमी को भेज दिया ये गद्य और आयुष्मान की कथाएं भी बहुत सारी हमारे साधु सन्यासियों की ऐसी बहुत सारी मिलती ईश्वर ईश्वर विश्वास ऐसा था सभी दृष्टा ने जी के लिए बिल्कुल ज्यादा बहुत सारी मतलब ऐसी घटनाएं रहती है कि मेरे लिए कहीं भोजन नहीं था लेकिन ईश्वर विश्वास से मानता था वो ईश्वर विश्वास और ईश्वर प्रार्थना को सिद्ध करने के लिए करना है उतने में रिक्शा में एक सेठ जी खाना लेकर के आ गए खाना सब उन्होंने कब पूछा ऐसा भी कुछ मेरे को गलत याद हो तो एक घंटी लगा दो घंटी का समय हो गया जी बोले कोई बात नहीं खाना तो है ही कैसे बनाएंगे क्या करेंगे घंटी लगा दो ईश्वर विश्वास घंटी लगा दी सब सोचे खाएंगे क्या बैठ के लेकिन तभी वो इच्छा लेकर इच्छा में भोजन लेकर के तो बांट दिया इन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आपको आज समझ में ईश्वर भक्ति ईश्वर विश्वास दृढ़ प्रार्थना इच्छा शक्ति है तो पूरी सफल होती है इत्यादि बातें खूब और अच्छी लगती है बहुत ऊंची श्रद्धा भक्ति उसमें देखते वहां ये मानते हैं कि ईश्वर किसको प्रेरित करते हैं क्योंकि तो ईश्वर को पता है ईश्वर के पत्नी भूखे बैठे हैं जो के पढ़ने वाले आज विद्या के वेदों का उद्धार करने वाले तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान परमात्मा के रहते भूखे कैसे रह सकते परमात्मा किसी को प्रेरित करेगा सीधे देगा नहीं परमात्मा इतना तो वैदिक सिद्धांत है कि परमात्मा सीधा नहीं देगा तो प्रेरित करेगा प्रेरित करेगा और कोई आएगा तो ऐसा जब हमारे जीवन में दूसरे के द्वारा होता है तो हम अधिकांश ये मानते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है ईश्वर ने सारी व्यवस्था की हर छोटी छोटी बात में हम ये बोलते हैं छोटी छोटी बात में बोलते रहते हैं कि कमरा अच्छा मिल गया हमें ईश्वर की बड़ी कृपा या हमारे आश्रम में आकर के ठीक मिल गया हाँ, कमरे में थोड़ा खिड़की की तरफ मेरे को मिल गया खिड़की के उधर है तो ईश्वर की बड़ी कृपा आप वैसे कितना में सोचा with them. भी करते थे बहुत कष्ट में होते होते होते दिव्य ये बंद रहा है मैं तो कष्ट में रहा और कहा है सोचा तो कि नहीं कहूँ नहीं कहूँ करता हूं हूँ और पीठ नहीं आ तो ऐसा जब हम किसी को कहेंगे तो तत्काल स्वीकृत कर लेते हैं और कुछ क्षतिपूर्ति भी करता है चरित भी करता है ऐसा होता है लेकिन ये हमारे प्रसंग से हम इस पर भी चर्चा नहीं करें हमारा विषय ईश्वर ही रहना चाहिए और ये बोलने का संयम है हमारा होना चाहिए इसे अप्रासंगिक बात जिससे सबका समय जाए वो हमें नहीं करनी चाहिए सबके लिए बोलने चालने में ऐसा होता है जो बिंदु है बस उतने तक ही रहना भले ही हमारी घटना बड़ी रोचक है ये है वो है उस लोभ से बचना है उस सुख से बचना है जो बिंदु बस केवल उतने को हमारी ईश्वर के द्वारा सहायता कैसे मिलती है कोई अनुभूति होती हो यहाँ ये ईश्वर की सहायता मिली प्रार्थना के बाद हो गया ये कैसे ना ये भी एक प्रश्न है हमने पूर्ण पुरुषार्थ किया ये पता कैसे तो प्रश्न इस पर विचार करें और ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठेंगे मैंने आपको पहले कहा कि प्रार्थना और फल सहायता का मिलना ये प्रश्न आसान नहीं है शुरू से जब से इधर प्रवेश करता है व्यक्ति तब से इस प्रश्न पर विचार करना शुरू करता है करते करते करते कोई कहीं जाकर उठता है कोई कहीं जाकर उठ जाता है जब देखता है तो और कोई विचार नहीं है तो उत्पल की इच्छा इस प्रश्न के समाधान को पूर्ण पोषा तो के बाद ईश्वर पर छोड़ देते लेकिन संतुष्टि कितनी नहीं होती कोई उत्तर मिल जाए कोई ईश्वर हो तो जाए वो फिर नहीं होता है तो आज का इतना विषय हम करते हैं तो आपने भी गुरु को के बाद ईश्वर को छोड़ रखा है इस प्रश्न जो आप में से पूरा नहीं जो आप में से पूरा नहीं ठीक ढंग से अपने को सोच कर ले इस तरह विचार करें कि क्या हमको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है अथवा हमने विचार कर करके इसको छोड़ सकते समझता है ये प्रश्न पूछा भी होगा दसियों बार पूछा होगा बीसियों बार विचार चलता ही रहता है ये विषय चलता ही रहता है शिविर में भी पूछते रहते हैं एक सीमा तक हम उत्तर भी देते हैं एक सीमा तक हम अपने से संतुष्ट भी होते लेकिन पूरा स्वामी सत्या नहीं मेरे विचार में ईश्वर को फल दी जाना चाहते हैं ईश्वर की शुरू फल देना जो आप बताना चाहते ईश्वर प्रार्थना के बाद में हमारी सहायता किस किस रूप में करता है उससे पहले का भी प्रश्न हो सकता है करता है या नहीं करता है और हम पूरे निश्चित हो जाए हाँ ये सहायता करवा सकता है और उससे हमारे किसी सिद्धांत की हानि नहीं होनी चाहिए जैसे आपने दूसरी बात जो पढ़ा कि सामर्थ्य के अनुसार पुरुषार्थ करके और ईश्वर से प्रार्थना मांगता है तो, तो अपनी सामर्थ्य लगा दी और सफलता मिली नहीं अब परमात्मा तो जानता है कि ईश्वर की सामर्थ्य के अनुसार कर चुका है अब क्या किया जाए लिए परमात्मा उसकी बुद्धि में जो न्यूनता रह रही है पुरुषार्थ करने में उस न्यूनता को उस मन को उससे हटा करके सब बुद्धि दे करके वो उसका मार्गदर्शन कर देता है और फिर वो आगे पुरुषार्थ में जाता है और दूसरे के द्वारा जो अचानक सहायता आ जाती है वो तो ईश्वर के द्वारा नहीं है उसमें ईश्वर की सहायता इसलिए उन्होंने प्रार्थना की इसलिए नहीं होती व्यक्ति की सहायता तो परमात्मा के द्वारा हम लोग खा रहे हैं परमात्मा की है परंतु उनके द्वारा प्रार्थना की ये इसका अर्थ है ऐसा और कोई प्रार्थना करने से ईश्वर सहायता प्रदान करता है इसमें तो किसी में तो सहायता करता तो है एक तो जो बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाता है व्यवस्था हमारी प्रार्थना के पहले से विद्यमान ठीक है जो सहायता होगी वो प्रार्थना के बाद ही होगी क्योंकि प्रार्थना के बाद में सहायता की गई होगी दोनों में कारण का संबंध में मानना ही होगा हम जिस ढंग से बात कर रहे हैं और वो जो सहायता मिल रही है उसकी व्यवस्था पहले से यदि की गई हो भले ही वो सहायता हमारी प्रार्थना के बाद में है हम अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छे लोगों का सहयोग मिल रहे हैं प्रार्थना की यद्यपि ये सहायता हमारी प्रार्थना के बाद में आई किंतु जो व्याख्या आपने की उस तरह की सहायता का प्राप्त होना इसकी व्यवस्था ईश्वर के द्वारा पहले से की गई है वो समझ से विद्यमान किस स्थिति में सहायता को क्या प्रार्थना का फल प्रार्थना से प्राप्त सहायता कह सकते हैं नहीं कह सकते सीधे सीधे नहीं किस तरह नहीं हम अपने को चर्चा को केवल कितने तक सीमित करते हैं ठीक है ये छोटा दिखता है जैसा कि आपने भी बात रखी लेकिन हमें क्या कर देखना है इस इसे हमें हटाना होगा जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने बात रखी मेरी समझ से इस तरह से हम इसको नहीं कर पाएंगे उस तरह की सहायता को जो सज्जनों को मिल जाती है परमात्मा ने जो सत्य के प्रति श्रद्धा लोगों में मान्य पैदा कर रखी वो ये ऐसी होनी चाहिए कि हमने प्रार्थना की उस प्रार्थना के बाद में ईश्वर की तरफ से कुछ ईश्वर ने उसके बाद में कुछ किया और उससे हम ऐसा इसमें होना है ऐसा कोई स्वरूप हमारे सामने अपने वैसे उनका तो स्वामी जी का समर्थन किया है उन्होंने जिस ढंग से बात की वो ऐसे थोड़ी सी बात पूरी करता हूँ अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं जिस पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में हमने प्रार्थना की जो कर्माशय है हमारा मतलब पुण्य कर्माशय वो हमारा पहले का किया हुआ है ठीक है और तो कुछ नहीं है ये अभी का किया हुआ है यदि हमारी प्रार्थना से हमारे कर्माशय के अनुरूप मिल रहा है तो दूसरे शब्दों में इसको भी हम यू नहीं कह सकते कि हमारे पुरुषार्थ के जितना ही मिला ऐसा मानना पड़ेगा मेरी बात समझ में आ रही है हाँ, अभी पुरुषार्थ के बाद में मिला प्रार्थना से जो मिला वो पुरुषार्थ से मिलने वाले फल से अतिरिक्त तो होना चाहिए नहीं तो वो कहने वाला जो शुरू का एक प्रश्न आ गया आता है कि बिना प्रार्थना करने वाले को भी कर्म के अनुसार मिलेगा ईश्वर न्यायकारी यथायुक्त देता है तो प्रार्थना से अतिरिक्त क्या है अब हाँ, ये कहते हैं फिर छुड़ा सकते हैं कि मेरा ब्रह्मानंद आप ये है सहायता का मिलना लेना है केंद्रित हम प्रश्न केंद्रित है तो सहायता वो अतिरिक्त सहायता अब यदि आप कहेंगे तो प्रार्थना करने से जो अतिरिक्त मिला वो कहां से मिला से से तो तुम्हारे जीवन फिर वो की वही बात आ जाएगी अतिरिक्त क्या मिला मेरा मान्यता मिलेगी आएगी उसमें कोई दो नहीं वो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है ये देखो प्रार्थना का एक वाला एक परिणाम है वो भी चर्चा करती मिलती वो मान्य एक तरफ करती जब हमें प्रार्थना से अतिरिक्त सहायता मिलती हुई नहीं दिखती है हम सिद्ध नहीं कर पाते तो प्रार्थना व्यर्थ होती भी दिखती है तो हम कहते हैं देखो का तो आज मैंने शुरू में भी बात रखी थी कि ऐसा कहकर के हम संतुष्ट हो जाते हैं बस पूरा प्रार्थना हमारी निष्फल रही है प्रार्थना को निश्चल कैसे कह सकते हैं हम प्रार्थना की सार्थकता कहाँ देख लेते हैं निरंतर मानता दी और संतुष्ट होकर और प्रार्थना करते हैं वो अंश अपनी जगह ठीक है लेकिन जो ये अतिरिक्त सहायता मिलना है उसको तो हम नहीं सिद्ध कर पाए उसको तो हम प्रस्तुत नहीं कर पाए उसको तो हम स्वयं भी नहीं हमारा मन स्वयं भी नहीं स्वीकार कर पाया तभी तो हम निरंतर मानता वाले उत्तर में आ गए बात व्हाट्सएप तो नहीं है बोलो एक और बोलो जो उन्होंने पोशाक किया उनकी जोड़ा उनको तो ईश्वर जब देगा देगा लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना के उपरांत जो हम चाहते हैं वो पहले मिल रहा है ये जो कहते हैं कि हमने प्रार्थना की और जो कर्माशय का फल हमें मिला है वो कर्माशय का फल पहले कभी बिना प्रार्थना के तो बहुत बाद में कभी मिलता है हमने प्रार्थना की तो पहले मिल गया ये पहले मिला चल रहे होते हैं ये भी पूछना चाहिए ये भी पूछना चाहिए आप विचार करेंगे कल आएंगे फिर कोई बात आएगी फिर प्रश्न होंगे बहुत विस्तृत विषय है मैंने आपका समय भी बहुत विस्तृत ले लिया पर विषय प्रस्तुति प्रश्न बहुत से आ रहे हैं इस पर आप लोग भी विचार कीजिए फिर हम एकत्रित होते हैं फिर इस पर विचार करेंगे और महसी के दो वचन हमारे सामने हैं उसके आधार पर कुछ निर्णय का प्रयास करेंगे और यहाँ जिन वक्ताओं ने बोला है उसको भी ध्यान में रखिए उसमें भी उत्तर छुपे हुए जो अभी तक ने बोला उत्तर इन्हीं में से ही हैं हमारे जो भी बातें बोली गई है इनमें उत्तर छुपे हुए हैं हमें तो ये देखना कि बिल्कुल ठीक है इससे किसी सिद्धांत की नहीं नहीं रखेंगे कोई सोचना